哦。 अष्टादश अध्याय दसवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा है जिसमें कहा था पूर्वाज ने कहा भगवान ने यहां प्रारंभ किया निश्चय शुरू में तत्र त्यागे भरत सप्तम त्यागो ही त्रिविधा त्यागो ही पुरुषा त्याग्रह त्रिविधा संप्रकृत यहां से आरंभ किया था देखो भाई कोई काम्य कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं कोई फल त्याग को सभी कर्मों का फल के त्याग को त्याग कहते हैं कुछ लोग ऐसा है कुछ लोग कहते हैं सबके सब कर्म त्याग देना चाहिए हाँ, दोष दोष वाले हैं कर्म और कुछ कहते हैं एक गीतान तब तो करते रहना चाहिए एक मत मत मतांतर है शास्त्रों में तो उनमें से मेरा निश्चय सुनो क्या होना है मेरा निश्चय सुनो करेगा निश्चय सुनो में तत्र त्याग भक्त सप्तम त्याग वही पुरुषा व्याग्र त्रिविद संप्रयुक्त तीन प्रकार त्याग होता है यज्ञदान तपकर्म कर्म न कार्य में तथा आगे के बोला भगवान ने यज्ञ दान तप जो है ना ये करना ही चाहिए अपने यथाशक्ति जैसे कर सकता हो हमारे चतुर्थ अध्याय बता हुआ यज्ञ है जो बाह्य यज्ञ नहीं कर सकता तो माने आध्यात्मिक यज्ञ कर सकता है हाँ, ये नहीं हम नहीं कर सकते यथाशक्ति जो अपने में है जो वस्तु है दे सकता है यदि अच्छी बातें हो ये भी एक देना कला है तो यज्ञ दान तप इंद्रिय निग्रह आदि स्वयं के पास है स्वयं कर सकता है ये नहीं कि के जंगल में जाकर के एक पैर से खड़ा होकर तप कर यही नहीं जो हमारे पास साधन है जितना साधन उसके द्वारा हम कर सकते हैं इसको त्यागना नहीं चाहिए ये मेरा निश्चय है यही है ये तो करना ही चाहिए तो कहने के बाद में कहा कि नित्य कर्म का त्याग जो करेगा ना उसका त्याग करना संभव नहीं है तो त्याग करेगा तो क्या होगा तामस त्याग कहा जाएगा नियत तो से संन्यास कर्मो पद्यते मोहात्य से परित्याग तामस परिकृत कहा है भगवान कह रहे नित्य कर्म जिस वर्ण जिस आश्रम के जो नित्य कर्म होगा उसका त्याग नहीं करना चाहिए यदि त्यागता है अज्ञान बस तो तामस कहा जाएगा सात्विक त्याग नहीं कहा जाएगा तामसिक त्याग कहा जाएगा इसे फल नहीं होगा तो दंड मिल सकता है ये कहा तो हमारे गृहस्थाश्रम के लिए तो नित्य कर्म है चलो जो कुछ है हमारे लिए क्या होगा हमारे देशों के लिए प्रश्न उठता है हमारे नित्य कर्म जिस परंपरा से जो मंत्रादि हमें मिले हैं उसका जाप करना और स्त्रोत्रादि का पाठ करना स्तुति ग्रंथ का अभ्यास करना जैसे विष्णु सहस्र नाम स्त्रोत्र हो शिव शास्त्र नाम स्त्रोत्र हो देवी शास्त्र नाम स्त्रोत्र हो ललिता शास्त्र नाम जो गणेश स्त्रोत्र हो जो आपकी रुचि हो उसका प्रति पाठ करना नित्य प्रतिपाठ करना और उपदेशक जो ग्रंथ है औपदेशिक ग्रंथ जितने भी हैं उसको भी प्रतिदिन कुछ अध्ययन करना जैसे हमें जानकारी मिलती रहे जैसे गीता औपदेशिक ग्रंथ है ये यहां उपदेश करते हैं हमारे लिए शिक्षा मिलती है हम कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य समझ सकते हैं गीता जो जो कर सकते हो अथवा आपके पास प्रखर व्याकरण आदि है तो आप वेद के द्वारा समझिए नहीं है तो स्मृति आदि के समझिए समझ करके अरे प्रतिदिन कुछ न कुछ स्वाध्याय होना चाहिए या तो हम सुनाए दूसरे सुने जाए दूसरे सुनाए हम सुने जैसा हम वो सुना सकते सुनाए न सुना सकते सुने प्रतिदिन जैसे कि हमें कुछ शिक्षा मिलती रहती है प्रतिदिन कुछ ना कुछ मिलती रहेगी इसमें से हम अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं यहां से सुन करके और जो हमारे पास भी नहीं है उनको ला सकते हैं अर्जन कर सकते हैं स्तोत्र ग्रंथ का पाठ जो ही कोई भी स्तोत्र रखे हम एक, सभी एक ही है माने अपने रुचि के आधार पर भिन्न भिन्न हो रहे हैं दिखते हैं तो जैसे नदियां भिन्न भिन्न है किंतु पहुंचते समुद्र में जितने स्त्रोत्र है वही पहुंचाने वाले हैं भगवान के नाम है अनेक है अनेक नाम है उनके तो कम से कम विष्णु सहस्र आदि जो पाठ प्रतिदिन किया करें ये तो कर सकते हैं थोड़ा थोड़े समय में हो सकता है और जब यज्ञाराम जब विष्णु कहा है जिस परंपरा में जैसे गुरुजनों ने जिस प्रकार का मंत्र दिया होगा उसको श्रद्धापूर्वक जप करना यही हमारे लिए तय कर्म होगा नित्य तो भर जीवन भर करने वाला कर्म होता है नित्य कर्म ये एक दिन कर दिया कोर्स आजकल कोर्स वाले मामला आ गया इसका कोई कोर्स नहीं होता है जब तक जीवन है तब तक वेदांत चिंतन शास्त्र चिंतन के द्वारा समय काटना चाहिए कहा है आसुप्ते रामृत कालम नयत वेदांत चिंतया सन्यासी के समूह एक बार शंकराचार्य के पास पहुंचा शंकराचार्य से कहा हमारे उपदेश बताओ तो शंकराचार्य ने कहा आसुप्तेर आवृत्य कालम नए वेदांत चिंतया सोने से पहले और मरने से पहले जो तुम्हारे पास समय बचता हो सोने के बाद तो बेहोश में जाते हैं वहां कुछ कोई चिंतन आदि हम कर नहीं सकते हम वहां पर अज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं तम तमगुण के वशीभूत हो जाते हैं सोने पर वहां हम कुछ कर नहीं पाते अपने बस में नहीं हम किंतु तो सोने से पहले जो समय मिलता आपके पास जागृत अवस्था और कितने दिन का कोर्स कहते आवृते मरने से पहले पहले तक सोने से पहले और मरने से पहले पूरे जितने भी दिन हैं आपके जीवन के दिन हैं पूरा ऐसा वेदांत चिंतन कहा है वहां मैंने उपनिषद के चिंतन के द्वारा समय काटना सन्यासी के लिए कहा हुआ है या तो सन्यासी आगे सन्यासी बनने वाले हैं नैष्टिक जो बोला जाता है वो सन्यासी के लिए चल रहे वहीं जाना है उन्होंने आगे वापस नहीं होना उन्हें गृहस्थ आश्रम आदि में नहीं जा सकते हाँ नैष्ठिक माने जाते हैं निष्ठा है उनकी कहा मोक्ष में उसको नैष्ठिक कहा जाता है तो यही है जब करना है जिस परंपरा में जिस मंत्र हमें मिला हुआ है उसका जब श्रद्धा पूर्वक जब करना है और स्त्रोत्रादि का पाठ और जो औपदेशिक ग्रंथ है उपदेश पर ग्रंथ गीता आदि का स्वाध्याय प्रतीत करे कुछ ना कुछ समझ में आता रहेगा एक शब्द आज सीखा दूसरा कल सीखा परसों तीसरा सीखा करते करते जैसे एक बूंद बूंद करके समुद्र बन जाता है पानी का इसमें एक एक शब्द हम सीखते रहेंगे तो हमारे पास बहुत सारे उपदेश एकत्रित हो जाएंगे यानी कि एक ही करना संभव नहीं है तो हमारे जैसों के लिए नित्य कर्म यही है इसको त्याग करना संभव नहीं कहा नियत संन्यास कर्मण थे वहां तस् परित्याग तामसा परिपीतता और दुख मान शरीर को कष्ट होगा इत्यादि कर्म करने में तो सरल नहीं है कष्ट होगा उस भय से शरीर के कष्ट के भय से यदि कर्म को छोड़ना हो दुख में ते तेवत कर्म काय प्लस भया तेजेत सकृत राज समुदाय नहीं बताया फल कहा हुआ है शरीर को कष्ट होगा ये भय है तो ये भय के कारण यदि नित्य कर्म को छोड़ देता हो तो वो राजस त्याग है कर्म का फल नहीं मिलेगा मोक्ष के साधन बनेगा नहीं वो ऐसा है तो करना ही चाहिए कैसे भी हो उस समय ही चाहिए जैसी स्थिति हो उस ढंग से करना चाहिए यह छोड़ना नहीं चाहिए नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कहा एक करके कहा था कार्य व्यक्तिगत कर्म नियतम कृत्य अर्जुन संगतम हम से सत्याग साथ कर्तव्य ऐसा मान करके नित्य कर्म फल की आशा से नहीं मेरा कर्तव्य है ऐसा मानकर कार्यम इति एवं कर्तव्य विदेव कर्तव्य मानकर जो कर्म नित्य कर्म यतम यत कर्म जो नित्य कर्म है वह क्रियते अर्जुन किया जाता है अर्जुन संगम तत्व कर्म में आसक्ति में कर्तापना नहीं है और फल में आसक्ति भी नहीं कैसे सेना लड़ती है ना राजा के लिए कर्तापना नहीं मानती सेना अपने राजा करता राजा हार जीत भी करता राजा माना जाता है उस काल में हाँ, सेना के ऊपर नहीं आता ये <clears throat> कर्म हो रहा है फिर कर्तृत्व नहीं हो फल भोक्तृत्व में फल भी राजा का सेवक सेव्य सेवक जो काम करेगा स्वामी का होता है हार जो भी होगा फल स्वामी का होता है इसी प्रकार काम करता है प्रभु के लिए है तो इस गुरु से कर्म करता है अपने लिए नहीं ये ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म यही है इसी को कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो बोलते हैं इसी को कहते हैं कार्य बच्चे कर्म नियतम कृत्य अर्जुना संगम तत्वा फल जैव सत्याग सात्विक होता एक कहा तो यहां पर पूर्वापर में कुछ विरोध दिख रहा है पहले तो कर्म को त्याग को बोला दो श्लोकों में नियत तो संन्यास कर्म को उपत्य थे वहां तसे परित्याग तामसा परिवृत्ति इत्यादि वहां तो मैंने तामस त्याग राजस त्याग कर्म त्याग ने बोला है शरीर को कष्ट होगा करके भाई के बारे कर्म छोड़ता हो राजस त्याग कहा जाता वो कर्म त्याग कहा था खुद अब कहते नहीं फलम संगम त्यक्ता फलम जब मैंने कर्माशक्ति को छोड़ना फलाशक्ति छोड़ना क्या दूसरे के त्याग बोल दिया किसका तो विरोध होगा ना पर विरोध है शंका उठाई थी पूर्वाजी पूर्वासी में शंका उठाई थी पूर्वापर का विरोध है जैसे कोई बोलता है त्रयो ब्राह्मण आगता तीन ब्राह्मण आए हुए हैं कितने आगे बोलता है दो तो सड़क व्यक्ता है अरे बेर के जाता है और एक क्षत्रिय है कहा से कहा गया है तो तीन ब्राह्मण के चर्चा में तीनों ब्राह्मण होना चाहिए एक क्षेत्रीय कैसे आ गया इसी प्रकार यहां भी पहले तो दो तो कर्म त्याग बोला राजस तामस करके और अब बोलते हैं संघ त्याग फल त्याग विरोध है पूर्वा ये शंका उठाई तो कहा नहीं विरोध नहीं है त्याग बराबर है किसका त्याग है हमने ये नहीं कहा त्याग में बराबर है वहां भी त्याग था पहले वाले भी अब त्याग है त्याग साधारों को लेकर के कहा गया है ऐसा उत्तर दिया गया था यही टीका बोल रहे थे एवं पूर्वापर विरोधम पराकृत इस प्रकार पूर्व पर दोनों का जो विरोध दिख रहा था पूर्व दो श्लोक के साथ इस नवे श्लोक के साथ जो विरोध दिख रहा था पूर्व के साथ इसका उसके विरोध का खंडन करके सिद्धांत खंडन करके त्यागत तो धर्म को लेकर के कहा यहां श्लोक का तात्पर्य वहा अनंतर श्लोक में आगे जो दसवां श्लोक है उसका तात्पर्य बताते हैं कहा था नई सदोष इत्यादि कहा था सिद्धांत ने त्याग सामान्य शुद्धार्थत्वाद ये बोल दिया था ये था आगे कहते हैं टीका में यस्तु इत्यादि टीका में यस्तु अधिकृत जो कर्म के लिए अधिकारी है माने मुमुक्षु निष्काम भाव से कर्म करने वाला मुमुक्षु होता है बुभुक्षु की चर्चा नहीं है मुमुक्षु है जो बुभुक्षु तो माने ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करेगा नहीं अपने लिए कर्म करेगा मैं करता हूं इसका फल भोगूंगा ये उसकी आशा होती है एक कहते यस्तु करके भाषण कहा था यस्तु अधिकृत किसमें अधिकारी मोक्ष के लिए अधिकारी है जो व्यक्ति संसार से वैराग्य है हाँ, मोक्ष के अधिकारी है ऐसा है संगम त्यक्ता फलाभिसंग दोनों को त्याग करके कर्म में कर्म में आसक्ति नहीं मेरा कर्म है मैं करता हूं भावना नहीं है फल में भी जो कर्म होगा फल तो होगा उसका आसक्ति नहीं है स्त्रुवार प्रवृत्ति से कर्म करता है नित्यम कर्म करोति कहा दो को त्याग करके समझा फल फलाशक्ति त्याग कर नित्य कर्म को जो करता है अधिकारी होगा मोक्ष के अधिकारी होगा जो अभी साधक साधक अवस्था में किस अवस्था में कोई साधन ले रहा है नित्य कर्म जिस वर्णाश्रम में जो आया हुआ है वो तस्य उसके फल रागादि ना फल के आदि मारे फल में जो राग था आसक्ति थी उसके द्वारा अकलुषित क्रियामाण देखो फल में आसक्ति होने पर हमारे अंतर्गत कलुषित होता है दूषित हो जाता है अंतर्गत जो राग है उसमें क्या है आसक्ति है वो दोष है किंतु जो नित्य कर्म करता है फलासंति और कर्मासन अभिसंधि के त्याग करके कर रहा है इसलिए उस व्यक्ति का फल राग आदि में फल में जो राग आसक्ति आदि के द्वारा अकलुषित क्रियमाण अंतकरण कलुषित नहीं हुआ है दूषित नहीं हुआ अंतकरण जिसका ऐसा व्यक्ति है वह अंतकरण नित्य से कर्म भी संस्कृत उल्टा अंतकरण नित्य कर्म के द्वारा संस्कारित हो रखा है जिसका अंतकरण संस्कृमाण विशुद्धति अंतकरण की शुद्धि होती है स्वतः शुद्धि हो जाती है फल न मिलने पर न जाने पर जैसे आश्रम में सेवक भी काम करते हैं आश्रम के सेवक नौकर भी काम करता है मजदूर काम करता है सेवक भी ब्रह्मचारी आदि होंगे जो भी होंगे यथायोग के सेवा करते हैं किंतु एक को फला अभिलाषा है मजदूर को इतने घंटे मेरे हो गए और वही ब्रह्मचारी मजदूर से ज्यादा काम कर रहा है आश्रम में सेवक है आपने उनको ऐसे होता है क्या मेरे इतने घंटे हो गए तो पैसा देगा मालिक नहीं होता किंतु परिणाम क्या आ जाता है मजदूर को उतना मिलेगा जितना उसे घंटे हो गए इसको आश्रम के महानता ही मिलने की संभावना आ गई यदि इस काम बाप से करता हो तो मानी बड़ी संपत्ति में वो चाहता नहीं है तो मिलने की संभावना ऐसी होती है ठीक इसी प्रकार <clears throat> तो जिसका अंतकरण कलुषित नहीं हुआ फल में आसक्ति क्या कर्म में आसक्ति फलाशक्ति द्वारा कलुषित नहीं दूषित नहीं हो अंतकर्म ऐसा अंतकर्म नित्य कर्म के द्वारा संस्कृत हो जाता कर्म संस्कारित हो जाता है अंतकर्म उससे उदाहरण विशुद्ध हो जाता है विशुद्धम प्रसन्न विशुद्ध द्वारा प्रसन्न हो जाता वो प्रसन्न हो जाता है प्रसाद है सर्व दुखान मान द्वितीय देव बोल के मन प्रसन्न होने पर सारे दुखों का निवृत्ति हो जाती है कोई दुख नहीं रहेगा जब मन क्या है सब धर्म सुख दुख आदि मान्यता मन की है आत्मा आलोचन क्षम मोहदी जाते हैं प्रसन्न हो जाता है तो क्या होता है आत्मा के विचार में समर्थ होता है आत्मदर्शन के लिए समर्थ होता है उसका आदमी मन मन शुद्ध हो जाने पर तस्य नित्य अनुष्ठान है उसी मन का नित्य अनुष्ठान है विशुद्ध अंतकर्म से नित्य कर्म के द्वारा विशुद्ध हुआ जो अंतकर्म है ना उसका आत्मज्ञान अभिमुख से आत्मज्ञान अभिमुख हो जाता है उस काल में अंतकर्म विश्व की तरफ नहीं होता उसका क्रमेण यथा अनिष्ठा क्रम के द्वारा जैसे आत्मनिष्ठा हो जाती है क्रम से सीधा सीधा तो अभी तो विशुद्ध अवस्था में है उसके बाद वेदांतादि श्रवण करेगा विष्णु से वैराग्य होगा फिर उपनिषद आदि का श्रवण और उसके पश्चात में परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान जैसे क्रम है श्रवण मन निध्यास से क्या होगा आत्मज्ञान में निष्ठा बन जाएगी स्थिति बन जाएगी यही हो इसलिए बतलाना चाहिए कैसे पहुंच जाता है आत्मज्ञान विभक्ति तो कर्माशक्ति फलाशक्ति मैंने रहित होकर के मैंने कर्तृत्व भोक्तृत्व सहित होकर के जो नित्य कर्म करता है तो अंतकर्म शुद्ध होने से किस प्रकार से आत्मज्ञान में निष्ठा रखेगा वह क्रम को यह बताना है उसके लिए कहना चाहते हैं कहा है <clears throat> ठीक है देखते भाष्य हो गया था थोड़ा आदि ना आया है फलराग के द्वारा फल में आसक्ति आदि के द्वारा आदि से क्या लेना कलुषित अंतकरण होता है कहा तो आदि ना आदि शब्द में कर्म स्वरूप आसक्ति कर्म में आसक्ति फलाशक्ति फल राग जैसे कर्म का राग है मैं करता हूं ये कर्म में राग मैं भोगता हूं फल में राग ठीक है इसे रहित होने पर होकर कर्म करता है तो स्थिति होगा कहा अंतकर्म अकलुषी अकलुषी अकलुषी क्रियमाण विधेयक अंतकरण जो है ना जो कलुषित नहीं होता दूषित नहीं होता ये दो ही दोष आ जाते हैं अंतकरण में मैं मैं करता हूं और मैं भोगता हूं ये दो दोष है नित्य कर्म को करने पर भी यहां पर समझने की बात है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व बना से मन अंत मलिन हो जाता है क्षुद्र भाव में आ जाता है अंतकरण अकलुषी क्रियमाण कहा था अंतकरण जो कलुषित नहीं होना ऐसा अंतकरण शुद्ध होता है कहा था तो ये कहते हैं इतिषेध ऐसा आया विशुद्ध अंतकरण किम से आता अंतकरण शुद्ध होने पर आगे क्या मिलेगा प्रश्न तो यह है क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्तित ऐसे युक्ति है प्रयोजन को देखे बिना किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती है प्रवृत्ति के कारण प्रयोजन पहले दिखता है वहां जाने पर ये मिलेगा एक उद्देश्य पहले बनता है मुझे ये लाभ होगा तो एक तो प्रयोजन को दिखे बिना प्रवृत्ति नहीं होती कोई भी कार्य में प्रवृत्ति हो रही तो आगे उसको भविष्य दिख रहा है उद्देश्य दिख रहा है तो यहां पर क्या मिलेगा प्रयोजन क्या मिलेगा इसको जिस पर कर्तृत्वाभिमान त्यागा हुआ है फलाभिमान भी त्यागा हुआ है त्याग करके नित्य कर्म वर्णाश्रम विहित कर्म कर, कर रहा है उसके परिणाम क्या आएगा क्या उद्देश्य होगा उसका एक प्रश्न उठता है तो उत्तर देते हैं ये कहना है विशुद्ध अंतकरण के विषय अंतकरण विशुद्ध हो गया चलो फलराग आदि के अभाव होने के कारण से तो क्या होगा कहा विशुद्धम प्रसन्नम विशुद्ध मन प्रसन्न हो जाता अंतकरण ये दो आसक्ति छोड़ देना अद्वित्य कर्म करे मन प्रसन्न रहता है तब क्या होगा मन प्रसन्न हो गया था आत्मालोचन क्षमम कहा लोत्री दर्शन धातु है आत्मदर्शन के लिए समर्थ होता है आत्मज्ञान के लिए समर्थ होता है मन ये कहा टीका में कहते हैं अंत हम्म। मल विकलत्व विशुद्धत्व या विशुद्ध आया एक पद आया है एक आय प्रसन्न आया हुआ है प्रसन्न और विशुद्ध में क्या अंतर है तो टीकाकार कहते हैं मल विकलत्व विशुद्धत्व विशुद्ध का अर्थ होता है राग आदि दोष से रहित हो जाना काम क्रोधादि जितने दोष है राग आदि दोष है मुख्य दोष दो ही होते हैं कर्म में कर्माशक्ति फलाशक्ति राग आदि दोष से रहित हो जाना बल से विकलित हो जाना मैंने रहित हो जाना बल यही है इसको कहा विशुद्धत्व अब प्रसन्न तो मैंने क्या है संस्कार तो प्रसन्न मन संस्कार हो गया उसको कहते हैं प्रसन्न कहा संस्कारवान हो जाना मन में यही है इति वेता बोलते दो में मन विशुद्धम और प्रसन्नम दो बातें आ गए तो विशुद्ध का अर्थ विकल्प विकलत्व प्रसन्नत्व माने संस्कारवत्व संस्कार वाला हो जाता है मन संस्कार युक्त हो जाता है क्रमेण आगे कहा ऐसे अंतर्गत शुद्ध हो जाने पर क्या आगे क्रम से आत्मज्ञान के आत्मज्ञान के लिए समर्थ होता आया हम्म। तो कैसे क्रम बनेगा आगे बोलना चाहते कहते क्रमेण श्रवणादि आवृत्ति द्वारेगा तो यही क्रम है जब नहीं जानते तो पहले सुनना पड़ेगा उसके बाद समझना पड़ेगा उसके बाद करना पड़ेगा तीन होते हैं सुनो समझो करो और श्रोतव्य मंतव्य निर्दिधास्तव्य जो बोलते हैं यही होता है सुनो समझो करो आचरण में उतारो पहले सुनो उसके बाद समझो क्या कहा हम्म, उसके बाद करो यही होता है कहीं भी जाए तीन बातें हैं पहले सुनना होगा हमें जानकारी है सुनना पड़ेगा उसके बाद समझना पड़ेगा क्या कहा है उसके बाद जो कहा उसमें लगना पड़ेगा करना पड़ेगा ये श्रोतव्य मंतव्य निर्देशा की बात नहीं होता है सुनो समझो करो ये श्रवणादि जो श्रवणादि है ना आवृत्ति एक बार सुनने से मैंने आवृत्ति कहा आवृत्ति असगत उपदेशात ऐसा ब्रह्मसूत्र चतुर्थ देवाया बार बार अभ्यास चाहिए एक बार से काम नहीं चलेगा क्यों छांदो के परिषद में सेतु केतु जैसा विद्वान को उद्दाल जैसे नौ बार उपदेश दिया है तब तपसी इसी को दृष्टान दिया सूत्र में आवृत्तित असकृत उपदेश एक बार उपदेश नहीं हुआ नौ बार देखा है वहां और सेतु केतु जैसा विद्वान को ये नौ बार उपदेश देना पड़ा तब समझाओ बात वही थी दृष्टांत बदल बदल के बदल बदल के समझाने पर समझ पाया बार बार उपदेश क्यों करना एक दृष्टांत नहीं समझा तो दूसरा दृष्टांत देना वो नहीं समझे तीसरा देना बात वही बता वही सिद्ध करना है ये नहीं कि नई नई बात बोल रहा हो उपनिषद में यही होती बात है वही परमात्मा जी बात पर ही के बताना है तो दृष्टांत बदल रहे थे इधर से करो चाहे ये समझ ये लाइन में समझ जाए वो लाइन में समझ जाए ऐसे समझाते रहते हैं तो क्रम यही है सर्वादि आदि द्वारा कहा ठीक है तन निष्ठा मैंने तन निष्ठा शब्द आया है तन निष्ठा मैंने क्या निष्ठा आत्मनिष्ठा सर्वादि के माध्यम से आत्मनिष्ठा होगी जिसका अंतर्गत शुद्ध हो गया शुद्ध कैसे हो गया क्रमा क्रमासंग फलासंग त्यागा हुआ है उसमें उसी कारण से हो गया मैंने मैं करता हूं परा भी नहीं मैं भोगता हूं परा भी नहीं इतने यही साधन उसके द्वारा अंतर्गत शुद्ध हुआ अंतर्गत शुद्ध होने से आत्मा के तरफ जाने के सामर्थ्य आ गया उसका फिर सर्वादि में लग गया जिज्ञासा आ गया मैं कौन हूं क्या हूं तो ये हड्डी मांस का पुतला हूं अथवा अन्य हूं जिज्ञासा पैदा हुई उसका सर्वादि सही है तनिष्ठा थी आत्मज्ञान निष्ठा होता से शब्द तो भाष्य में था उसका आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाती उसके लिए कहा काम्य कर्माणी त्याज्यत्व द्वेषम अभिनय थी <clears throat> काम्य कर्म जो है त्याज्य है अरे कर्तृत्वाभिमान पूर्वक करना और फलाभिमान रखना यह है काम्य कर्म इत्यादि होते हैं द्वेष कई दिखाते हैं किम प्रश्न उठा किम अने इतम इत्यादि काम्य कर्म में द्वेष करता कहा था न द्वेष तो कुशलम कर्म कहा अन्य व्यक्ति माने क्या होगा काम्य कर्म में द्वेष करता था क्योंकि यह द्वेष नहीं करता उस स्थिति में कब जब आत्मनिष्ठा हो चुकी उसकी तब उस स्थिति की बात है यह भाषण में कहा था ना कुशलम अशोभनम काम्यम कर्म का अशोभन मैंने जो पापादि कर्म है काम्य कर्म है उसे द्वेष नहीं करता नद्यस्त कुशलम कर्म कुशल राम सज्जत एक हुआ था तो काम्यम कर्म शरीर आरंभ गया काम्य कर्म शरीर का आरंभ है शरीर देने वाला है करके द्वेष नहीं करता संसार कारणम ये संसार के कारण है काम्य कर्म किम अनैना इतने क्या इसे किया जाता ये करके ऐसा द्वेष नहीं करता ऐसा द्वेष भी नहीं उसमें क्यों मन शुद्ध हो चुका आत्मज्ञान में निष्ठा हो चुकी है उस काल की बात है तिथि प्राप्त अवस्था में हो एवं कुशले शोभन कहा और कुशल मन जो पुण्यादि कर्म है शोभन कर्म है उसमें न अनुसजते आया हुआ है उसमें आसक्ति भी नहीं करता ये मेरे काम के हैं वो ऊपर हो चुका है वो आत्मज्ञान में निष्ठा हो चुकी है उस काल की बात है न व्यस्त कुशल हम कर्म कुशल अनुसजते पर पूर्व काल की बात नहीं उस काल में है त्यागी सप्तम आविष्ट कहा था त्यागी है वो और यथार्थ ग्रहण में सामर्थ्य में आविष्ट है उस काल में जो यथार्थ वस्तु आत्मा है उसके ग्रहण में सामर्थ्य पाया हुआ है आत्मज्ञान में निष्ठा पहुंची हुई काल है उस काल की बात है मेरा भी बुद्धिमान है वो कोई संशय कोई नहीं है सबके सब संदेश समाप्त हो चुका है इत्यादि कहा था ये कहना है टीका में यहां काम्य कर्म है त्याज्य द्वेषम अभिनय कहा काम्य कर्म त्याज्य है उसके द्वेष दिखा है किस प्रकार से काम्यम कर्म शरीरारंभेण रमद्वारेण संसार कारणम की माने ना ये द्वेष ये द्वेष भी नहीं करता उस काल पहले करता होगा अब जो आत्मज्ञान में निष्ठा हो चुकी है उसकी अंतकर्म शुद्धि की परंपरा के माध्यम से नित्य कर्म ही मुख्य था ये चलते चलते वहां पहुंचा उस काल में इनके साथ द्वेष नहीं करता मैं शत्रु मित्र भाव से रही थे उस काल में वो वैत्र द्वेषम प्रतिम तो न काम्य कर्म में द्वेष भी नहीं करता और शुभ कर्म में प्रेम भी नहीं करता ऐसी स्थिति में वह उसके ऊपर की अवस्था में पहुंचा हुआ आत्मज्ञान में निष्ठा रखा हुआ है ये कहा सामान्य लोकतम करता और हम प्रश्न सामान्य रूप से कहा था द्वेष भी नहीं करता प्रेम भी नहीं करता कहा था करता को उसी को विशेष रूप से दिखाते कह पुनः ये प्रश्न उठा कौन है वो व्यक्ति जो काम्य कर्म के साथ निंदा भी नहीं है और पुण्य कर्म के साथ प्रेम भी नहीं कहा पुनरसो त्यागी ये कहा और यह त्यागी कौन है ऐसे त्यागी प्रश्न उठा तो उत्तर दिया भाष्य में पूर्वोक्त पूर्वोक्त जो प्रकार है ना पूर्व प्रकार जो नवे श्लोक कहा था संबंध फलम चाहिए सत्याग सात्विक होता ये कहा हुआ है उसी क्रम से पूर्वोक्त संघ फल परित्याग कर्म में आसक्ति भी नहीं फल में आसक्ति भी नहीं दोनों को त्याग के द्वारा नित्य कर्म करता है तदवान त्यागवान वो त्याग वाला होगा उसको त्यागी कहा जाएगा त्यागो अस्थिति त्यागी जैसे दंडो से दंडी वो त्यागी तदवान त्यागी माने संघ फल परित्याग के द्वारा त्यागी है वो कर्म नित्य कर्म कर रहा है यह कर्मणी संगम तब तत्फलम से नित्य कर्म अनुसाई हाँ, वही त्यागी सा त्यागी जो कर्म में आसक्ति नहीं है कर्तृत्वपना नहीं है फल में भोक्तृत्वपना नहीं दोनों को त्याग कर नित्य कर्म के अनुष्ठान कर रहा है अनुष्ठान करने वाला उसी को त्यागी कहा गया वहां त्यागी शब्द वही है ठीक है होगा कर्मणि संघ से तत्फल से त्याग है यही है कर्म में आसक्ति माने कर्तृत्वाभिमान और उसका फल कर्म का फल में भी आसक्ति का अभाव अभाव ये दोनों को त्याग के द्वारा कर्तृत्व और भोक्तृत्व का त्याग के द्वारा यही है त्यागी हो जाता हो में त्यागी ना विरुद्ध उसी त्यागी को जो कर्तृत्व भोक्तृत्व त्याग करके नित्य कर्म कर रहा है जो व्यक्ति कर्माशक्ति फलाशक्ति को त्याग कर नित्य कर्म कर रहा है जैसे साधुओं के जब ध्यान आदि जो बताया गया है कई नित्य कर्म है बाकी कहा अग्निहोत्रादि कहा करेंगे ये क्या करेंगे वो गिरस्ताश्रम का था क्या नहीं है या कर्मणि प्रवृत्ता इत्यादि कहा कौन है वो त्यागी तो कहा जो कर्म में प्रवृत्त है हम्म, यह कर्मणि प्रवृत्त इत्यादि सब से कहा था यह कर्मणि संगम त्यक्त तो फलम से नित्य कर्म ऐसा त्यागी कहा था जो कर्म में है अभी हाँ, हाँ, फलाशक्ति कर्माशक्ति को त्याग करके बैठा हुआ इसलिए उसको त्यागी कहा गया तत्फलम त्यक्वा इति संबंध वो फल को त्याग करके जो कर्म के जो फल है नित्य कर्म का जो फल होना था उसको त्याग करिए यहाँ तत्फलम अलग है त्यक्वा पूर्व में है तत्फलम बाद में है भाष्य में देखते हैं तो संघ में आ गया तत्फलम चकार हाँ ये त्यक्त आया उस बात का संबंध ऐसे बात तत्फलम त्यक्त ऐसा बताना कहा काम्य निषिद्ध से कर्मणी बंध हेतु थे न दृष्टि करते काम्य कर्म निषिद्ध कर्म दो प्रकार के कर्म ये बंध के कारण है करके द्वेष नहीं करता न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कहा हुआ है काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म है इनमें बंध हेतु इति ऐसा जानकर समझकर ये बंधन के कारण है ऐसा मान करके द्वेष नहीं करता उस स्थिति में जो आत्मज्ञान में निष्ठा हो जाती है नित्य कर्म के माध्यम से वहां पहुंचा हुआ है तब की बात है और नित्य नैमित्य का जो मोक्ष हेतु प्रियते कहते हैं और नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म जो होते हैं उसमें मोक्ष के कारण करके प्रेम भी नहीं करता उस स्थिति में तत्र काल विशेषम प्रसिद्ध उस उस कब होता है ये नित्य कर्म कर, कर रहा अभी तो कब वो मिलेगा उस स्थिति हमें कब मिलेगी काल विशेष जो काम्य कर्म में और निषिद्ध कर्म में द्वेष भी न हो और नित्य निमित्त कर्म में प्रेम भी न हो ऐसी काल कब आए हमारे सामने कब आएगी दिन हमारे दिन कैसे आएगा प्रश्न आया कदा विवास है कदा पुनर्सौ कुशलम कर्म न अकुशलम कर्म न और तो नाम सज्जते ये प्रश्न आया किस काल में पहुंच करके होगा ये कितने समय लगेगा उसको वो व्यक्ति असौ बने वो जो व्यक्ति जो नित्य कर्म कर रहा है कर्मासंग फलासंग त्याग करके कर रहा है वो व्यक्ति अकुशल कुशलम कर्म न द्वेष माने जो काम्य कर्म निषिद्ध कर्म के साथ द्वेष भी नहीं करता और कुशलेचन अनुसजत का कुशल मैंने कुशल कर्म नित्य निविधि कर्म में आसक्ति भी नहीं इति कब कब होगा उच्चते से उत्तर देते हैं त्यागी सत्य समाविष्ट है ना आगे त्यागी सत्य समाविष्ट हो वेदावि चिन्ह समझ रहे सत्व में जो आविष्ट होगा यथार्थ ज्ञान में प्रवेश करेगा जब यथार्थ ज्ञान आत्मज्ञान है सत्वम समाविष्ट कहा आत्मज्ञान विशिष्ट अंतकरण में जब प्रवेश करेगा स्थिति में होना चाहिए तब स्थिति होगी कहा जो उस स्थिति में काम्यादि की निंदा भी नहीं करता और शुभ कर्म के साथ प्रेम भी नहीं करता ये कहा नित्यादि कर्म फला फलाभि संधि वर्जित है ना शब्द कर्म से अच्छा। नित्यादि कर्म है नित्य आदि से नैमितिक नित्य नैमितिक कर्म के द्वारा फलाभि संधि वर्जित है फल की अभिलाषा कर्म की अभिलाषा दोनों को त्याग करके कर्तृत्व भोक्तृत्व बना त्याग करके नित्य नैमितिक कर्म के द्वारा क्षपित कल्म सच्य जिसने पाप नाश कर दिया जब पाप नाश हो जाता है तो अंधकरण शुद्ध हो जाता है ये जो कर्म किया जा रहा था पाप नाश के लिए फलाभिसंधि कर देता क्षपित से क्षपित करे मैंने दूर कर दिया है पाप जिसने ऐसा है सत्वम माने क्या है सत्व सत्व समाविष्ट आया है त्यागी सत्व समाविष्ट सत्व माने क्या यथार्थ करण सामर्थ्य सत्वम जो वस्तु जैसा है वैसे ग्रहण के सामर्थ्य शक्ति आ जा रही है उद्बुद्धते उसकी वृद्धि हो जाती है जो वस्तु जैसा है उसके ग्रहण में सामर्थ्य की उत्पत्ति हो जाती है उसका अर्थ है पहले तो अन्य वस्तु को अन्य समझ रहा था है आत्मा शरीर समझ रहा था अब आत्मा का बहुत जाता ही अर्थ है ये यह सत्व का अर्थ यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य उद्बुद्धते का मानी सुप्त अवस्था में था यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य प्रसुत अब उद्बोधित अवस्था में आ जाता है तेरा जब सत्व में आविष्ट हो जाता है समावेश दशायाम उस यथार्थ ज्ञान के के द्वारा समावेश होगा अंतकरण जहां जिस काल में ऐसा होगा उसमें उक्त प्रति द्वेष और अभाव होती पूर्व में कहा जो प्रेम और द्वेष कहा था न द्वेष थे हम कर्मा कुशल नाम सत्य थे इनका अभाव होता है दोनों का अभाव हो जाता है यदि उच्चते से उत्तर दिया गया था यही है सत्व समाविष्ट इत्यादि था सत्व समाविष्ट यदा सत्वेन आत्मानात्म विवेक विज्ञान हेतु ना सत्व समाविष्ट जब अंतकरण हमारा कैसा होगा आत्मानात्म विवेक करने के सामर्थ्य से युक्त होगा उस काल में शुरुआती साधन नित्य कर्म ही था जिस परंपरा में जो साधन बता दिया गुरुजनों में उसमें विश्वास रखना विश्वास में फल आएगा फल देने वाला क्या होता है विश्वास होता है विश्वास में फल है अविश्वास में फल नहीं है कहीं भी हो कहीं ना कहीं विश्वास करना ही पड़ेगा तो नहीं गुरु के जो वचन आदि है इन्हें क्यों विश्वास क्यों नहीं किया जाए यही है ये कहा था भाष्य ने कहा था आत्मानव हेतु न समाविष्ट संव्याप्त जब व्याप्त हो जाता है संयुक्त है तो उसमें युक्त सम्य प्रकार से जुड़ जाता है उस काल में स्थिति आ जाती है नद्वष्ट कुशलम लो और कुशल नाम सच जाते ये स्थिति आ जाती है उसकी यही है आगे टीका में बोलते हैं अतएव है ना भाष्य में अतएव तो मेधावी इत्यादि का देखी जो आत्मान पर विवेचन कर में सामर्थ्य आ गया है उसका वहां बैठा उस काल में मैं अकुशल कर्म के द्वारा कामयादि कर्म के साथ में द्वेष भी नहीं करता और पुण्य कर्म आदि के साथ में शुभ कर्म के साथ प्रेम भी नहीं करता अतएव इसी कारण से ऐसी स्थिति उदासीन भाव में पहुंचा हुआ है आत्मभाव में पहुंचा है इसलिए अतएव अतएव यदि समुद्बुद्ध बुद्ध यथार्थ ग्रहण सामर्थ्य समाविष्टत्वाद अतएव का था पंचमी है ना वो इसलिए कहा जो सम्यक प्रकार से उद्बुद्ध हो गया फलोन्मुख हो गया है कौन यथार्थ ग्रहण करने का जो सामर्थ्य उद्बुद्ध हो रखा है सुप्त अवस्था में नहीं आ यथार्थ वह आत्मा ही है उस काल की बात है कहा उस काल को कहा अतएव का अर्थ है छिन्न तो विसर्जन छिन्न सा गया उस काल में कोई संशय नहीं रहेगा क्या है वो संशय वो कट गया संशय कट गया जिसका तो संशय क्या था उस काल में कहा छिन्न संशय बने अविद्याकृत संशय अज्ञान के कारण जब तक अज्ञान था तब तक संशय था यश आत्मस्वरूप अवस्थायाम एवं परम निश्चय साधन नामित के निश्चय ना छिन्न संशय कहा जिसको अविद्या के कारण था संशय था ये शरीर आत्मा है कि कौन आत्मा है क्या आत्मा है संशय हो रहा था और आत्मा बड़ा है छोटा है महत परिमाण है अणु परिमाण है मध्यम परिमाण है आत्मा क्या करता है भोगता है कितने संशय पड़े हुए थे आत्मा के विषय में तत्तवादियों ने हमें ऐसा झुठला रखा था कोई बोलता था करता भोगता है कोई कहता था नहीं हाँ कोई कहता अणु है कोई कहता महत्व है कोई कह मध्यम परिमाण वाला है हाँ, न जाने कितने प्रकार से आत्मा के विषय में वादियों ने कहा हुआ है उसे हमारे मन में संशय आया था इसकी बात सही है कि उसकी बात सही है सुन सुन करके उस काल में जब आत्मदर्शन में सक्षम हो गया अंतकर्म नित्य कर्म के माध्यम से पहुंच करके तो उस काल में सारे संशय नष्ट हो जाते हैं ये कहना है परम निश्रेषम तस्थ साधनम सम्यक ज्ञानम यदि आगे परम निश्रेषम इत्यादि आया हुआ है उसका अर्थ करते हैं जिसका अविद्या के द्वारा किया गया जो संशय था अज्ञान में संशय हो रहा था अज्ञान काल में आत्मा के विषय में संशय था जैसे आत्मस्वरूप अवस्थान में जो आत्मस्वरूप का अवस्थान ही परम निस्त्रीय संसाधन जिस व्यक्ति का ऐसा हो रहा है वो क्या आत्म रूप में रहना ही परम कल्याण का कारण है ऐसा माना हुआ है उसने उस काल में आत्मस्वरूप में रहना ही परम कल्याण है परम कल्याण का साधन है नाद्यत किंचित अन्य कोई भी नहीं इस प्रकार से समाप्त हो गया अन्य कोई साधन नहीं परम कल्याण का कारण यह थे आत्मज्ञान में बैठना वहां पहुंचना यही ऐसा निश्चय के द्वारा छिन्न संशय सारा संशय जिसका नाश हो गया ऐसा हो जाता व्यक्ति का कौन यो अधिकारी हम्म, जो मुमुक्षु होगा वो यहां अधिकारी है शास्त्र सुनने का अधिकारी मुमुक्षु होता है अध्यात्म शास्त्र के सुनने के श्रवण के अधिकारी मुमुक्षु मुमुक्षु नहीं है जो अधिकारी का पुरुष है पूर्वोक्तन प्रकारेण कर्मयोगवान पहले जो बताए गए तरीका बताया हुआ है कर्म को अनुसार कर्म को नित्य कर्म का योग योग नित्य कर्म को योग कहा हुआ है योग यही है पूर्वोक्तन प्रकारेण कर्मयोग कर्म ही योग कर्मयोग कर्म ही योग है यह कर्म रूप जो योग है नित्य कर्म मैं ये कर्तृत्व भोक्तृत्व का आशा छोड़ करके कर ईश्वरात्मक बुद्धि से कर्म करता हूं ये अनुसार के द्वारा क्रमेण क्रम से चलते चलते उसका विश्व अंतकरण विशुद्ध होगा अंतकरण विशुद्ध होने पर विश्व से वैराग्य होगा विश्व से वैराग्य होने पर उपनिषद आदि का श्रवण आदि में मन लगेगा मैं कौन हूं क्या हूं ऐसे जागृति आएगी मन में और उसको जानने के लिए गुरु पास जाता है वो मैं कौन हूं क्या हूं तत् विज्ञानार्थम गुरु व्यवहार का क्षेत्र समित पाणी श्रोत्रियम परमेश्वर इत्यादि मंडक में है तरीका कि आत्मज्ञान की जिज्ञासा उठेगी तब माने कोई वेदांति गुरु के पास पहुंचेगा वो जो उपनिषद की बातें बता सके हमें समझा सके आत्मा के विषय में ऐसे गुरु पास जाता है इत्यादि आया है कोई अधिकारी हाँ, ठीक है ना न द्वेष्ट इत्यादि ना शुल्क न उत्तम अर्थम संक्षिप्त अनुपति का न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशल नाम सज्जित इत्यादि श्लोक से कहा हुआ जो विषय है उसको संक्षेप में अनुवाद करते हैं क्या यो अधिकृत का जो अधिकारी होगा ना इसी का बात है जो अधिकृत पुरुष पूर्वोक्त न प्रकार पूर्वोक्त प्रकार अद्वैष्ट कुशलम कर्म कुशल नाम सचित आदि है यही है पूर्वोक्त न प्रकार मैंने कर्मणि तो संगत आ गया यही है नित्य कर्म कर रहा है उस कर्म में कर्माशक्ति में नहीं कर्तृत्वपना भी नहीं भोक्तृत्वपना भी यही है कर्मात्मनो योग से अनुष्ठान कर्मयोग कहा ना कर्मयोग मानी क्या कर्म स्वरूप योग कौन सा योग हाँ यहाँ अष्टांग योग वाली बात नहीं है नित्य कर्म रूपी योग यही है कर्मात्मा आत्मा स्वरूप जो कर्म स्वरूप योग है ये कर्म ही योग है यहाँ योग ऐसे अनुष्ठान है वही योग के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा संस्कृत आत्मा जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया संस्कृत आत्मा इस जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया है आत्मा मैंने अंतकरण ऐसा होता हुआ क्रमेण क्रम से चलेगा आगे अंतकरण शुद्ध होते ही आत्मा नहीं मिलेगा वेदांत श्रवण आदि करना पड़ेगा उस माध्यम से चलते चलते आत्मनिष्ठा में पहुंचेगा ये कहना है श्रवणादि अनुष्ठान द्वारा श्रवण मनन निध्यासन आदि के अनुष्ठान के द्वारा कूटस्थम ब्रह्म प्रत्यक्ष संबुद्ध जब वेदांत श्रवण आदि करेगा तो जो निर्विशेष ब्रह्म है ना अपने मैं ही हूं इस विशेष समझता है वेदांत यही सिखाता है तब तो मसी यही बोलता है तुम्हें अभिमान से पुतला नहीं हो तुम सचिदान आत्मा हो उपनिषद ये सिखाती है तो कोटस्थ ब्रह्म जो सर्वनादि के अनुष्ठान करेगा उपनिषदों का उपन्यास के सर्वनादि से नहीं होना है उपन्यास पढ़ करके मिल जाए तत्व तो नहीं श्रवणादि अनुष्ठान द्वारा कुटस्थम ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है प्रत्यक् न संबुद्ध अहम आत्मा रूप से समझता है प्रत्येक मन यह होता है स्वयं अपने स्वरूप से समझता है अहम ब्रह्माष्टमी के भाव में पहुंचता है वही है यहां पर <clears throat> क्रम से वहां पहुंच रहा है अयम निष्कृत्व हेतु निष्क्रिय हो जाता है उस काल में कर्म कहा जन्मादि कहा उस काल में जन्मादि विक्रिया रही तत्व उस आत्मा में आत्माभाव पे पहुंचने के बाद जन्मादि जो क्षण विकार से रहित हो जाता है जायते अस्थि बढ़ते विपृणते अपक्षयते विनश्यति कोई क्रिया नहीं हुआ मैं निष्क्रिय हूं मेरा जन्म नहीं होता मैं बढ़ता भी नहीं घटता मैं घटना बढ़ना के शरीर है प्रकृति का कार्य घटना बढ़ना करता है मैं नहीं हूं जायते अस्थि बढ़ते कौन बढ़ेगा शरीर बढ़ता है घटना बढ़ना यहां होता है नहीं नहीं मेरा नहीं होता ऐसा समझता है इसी बुद्धि में जाता है विपरीत होते विपरीत कौन होगा शरीर होगा हम्म, ये नहीं होने वाला और अपक्षय क्षीण होना मेरे स्वरूप में क्षीण नहीं होता ये क्षीण होने वाला अलग है इसमें आपको बुद्धि मेरी नहीं है ये बुद्धि में जाता है विनश्यति नाश का शरीर का मेरा नहीं सर्वाधिक विकार को पहले अपने में मानता था वो अज्ञान काल में किस काल में हाँ मैं मैं जन्म लिया हूं इतने साल मेरा हो गया ऐसा गिनता था जो बर्थडे क्या मनाते हैं उनको रोना चाहिए असले में समझ में बैठने वालों इसने इतने साल कमा दिया बेकार कर दिया किंतु खुशी खुशी मना रहे उल्टे देखो बर्थडे हाँ, केक काटना अमुक करना क्या क्या करते हैं यही सब उल्टा है उल्टी बुद्धि जन्मादि इत्यादि कहा उक्त ज्ञान बता सर्वकर्म त्याग द्वारा मुक्ति भागता हूं तक ऐसा ज्ञान जिसका होगा शरीर से पृथक हो चुका है नित्य कर्म के माध्यम से चलते चलते वहां तक पहुंचा हुआ है उस क्या सर्वकर्म त्याग द्वारा सारे कर्म का त्याग करेगा उस काल में मुख्य संन्यास में पहुंच जाएगा अभी तो कर्म करता हुआ त्यागी था कैसा था अब सारे कर्म से रहित हो जाता है अपने को निष्कर्म भाव में प्राप्त करता अंत में जाकर मुख्य संन्यास पहले वाला जो कर्म त्याग था वो गौण संन्यास था एक प्रकार का सन्यासी हो कहा गया आगे मुख्य सन्यासी में पहुंचा है सारे कर्म का त्याग था वहां जाने के बाद कर्म के साधन शिखा सूत्र आदि को समाप्त कर देता है यह स्थिति है पहले तो गौण सन्यासी था उस काल में नित्य कर्म कर रहा था मैंने शिखा सूत्र आदि लेके बैठा हुआ था अभी मुख्य सन्यास नहीं था उसका उसको अथवा विविदुषी सन्यासी है शिक्षा सुप्रति फिर भी जानने की इच्छा से कर रहे थे अभी पहुंचे नहीं थे वो भी विद्वत संन्यास अवस्था में पहुंचता है तो यह स्थिति होती है सर्वकर्म त्याग द्वारा मुक्ति भक्तम भवती का सभी कर्मों के द्वारा नित्य नैमित काम में निषेध सब त्याग देता है काम में निषेध को पहले त्यागा हुआ है उसने नित्य नैमित भी त्याग देगा आगे मेरे में कर्म नहीं है समझता है तो मुक्ति के भागीदार हो जाता है ये कहा हुआ है मूल साधन हुआ नित्य कर्म इसको नहीं छोड़ना चाहिए हर वर्ग को यह स्थिति है आगे टीका भी बोलते हैं आत्मज्ञानवत सर्वग्रह त्याग संभावना मुक्त तदहीन से तद असंभव हेतुवचन अनंतर सुलभम होता रहे थे देखो एक साधक अवस्था एक सिद्ध अवस्था आत्मज्ञान जिसको हो गया जैसे सामने घड़ा है तो घड़े में मन अहम बुद्धि नहीं होती है मैं हूं नहीं बोलेगा अपने से पृथक समझता है अपने को गए से पृथक समझता है व्यक्ति व्यवहार काल में ठीक इसी प्रकार शरीर को अपने से पृथक देखता हो जो व्यक्ति आत्मज्ञान वाला होता है मैं शरीर से पृथक हूं एक स्थूल शरीर नहीं थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर से अपने पृथक धन जपेगा थूल शरीर से तो थोड़ा पृथक कभी कभी पृथक बना आ जाती है भिन्न हो लगता है सूक्ष्म शरीर जो सत्र है उससे भी अपने को पृथक करना होगा और उसके भी बीज है कारण शरीर अज्ञान आज किसी को पूछे मैं अज्ञान हूं अज्ञानी हूं बोलता है उससे भी बोले पृथक करना पड़ेगा तीनों शरीर से पृथक होगा ना वो पूरा आत्मज्ञान है आत्मव्यता है वो यही है वहां कर्म नहीं है सारे कर्म का त्याग है उस काल में किंतु शरीर आदि में कुछ कुछ अंश में है आत्मबुद्धि है तो नित्य आदि कर्म में लगता है वो साधक अवस्था में है अभी ये कहते हैं आत्मज्ञानवत आत्मज्ञान में पहुंच चुका है जो व्यक्ति आत्मज्ञानवान है उसका सर्वकर्म त्याग संभावना होता है सभी कर्म का त्याग हो जाता है आत्मज्ञान होने पर कोई कर्म अपने में देखता ही नहीं सब त्याग करेगा ये इसकी संभावना कहीं पूर्व में कहा गया अब तद ही न आत्मज्ञान वाला नहीं अभी आत्मज्ञान में पहुंचा नहीं है उसको साधन करना अभी साधन अवस्था में सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंचा है उसको क्या करना चाहिए कहते पांच होते हैं कर्म के स्थान पांच हैं ये बताना चाहते हैं कर्म करते समय में आत्मा भी है माने अंतकरण उपहित आत्मा कर्म करने वाला होता है कौन होता है शुद्ध आत्मा नहीं उपाधि युक्त आत्मा को कर्ता माना जाता है तो पांच मिलकर के कर्म होता हो उसमें अज्ञानी क्या मानता है एक ही आत्मा को कर्ता मानता है या पांच व्यक्ति मिलकर के होता हो जो कर्म उसमें एक ही के ऊपर में आरोप लगाता है अज्ञानी कहा आत्मा में करता हूं स्थिति है तब व्यक्ति से आगे आएगा वो जानता नहीं है आत्मस्वरूप को जानता नहीं है ये कहने के लिए निंदा के लिए वाक्य उतारते हैं ये कहना चाहते हैं आत्मज्ञान होता सर्व कर्म त्याग संभावना होता आत्मज्ञानी हो चुका है आत्मभाव में पहुंचा है उसलिए सारे कर्म का त्याग होगा कर्म के साधन शिखा सूत्र आदि त्याग करके बैठा हुआ है है वो ये कथन कर तदहीन से उसे रहित है जो आत्मज्ञान वाला नहीं हुआ अभी साधक अवस्था में बैठे हैं जो भी हो गए अथवा अज्ञानी होगा तद असंभव है देखो अज्ञानी दो प्रकार के हैं एक तो मुमुक्षु अज्ञानी है मुमुक्षु अज्ञानी अज्ञानी तो ज्ञान तो हुआ नहीं मुमुक्षु को ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है वो भी अज्ञानी है किंतु अज्ञान का भी स्तर होता है समानता नहीं है जैसे पूर्णमासी की रात्रि भी रात्रि है अमावासी की रात्रि भी रात्रि है दोनों रात्रि हैं किंतु फर्क है ना कुछ तो बुभुक्ष और मुमुक्ष अज्ञानी भी इतना अंतर है उसको कुछ प्रकाश का रास्ता मिला हुआ है इसको नहीं मिला वह तो अज्ञान अवस्था में अभी ज्ञान नहीं हुआ है इसलिए तो साधन कर रहा हो तो तद इन आत्मज्ञान हीन से तद असंभव है माने कर्म त्याग संभावना असंभव है कर्म त्याग होना संभव नहीं है अभी आत्मज्ञान यदि नहीं हो तो कर्म तो त्याग की संभावना नहीं है हेतु वचन तो आगे हेतु कर्म के करने के लिए हेतु बताएंगे कितने हेतु होते हैं वचन है ना अनंतर श्लोक बताया कहा हेतु वचन के माध्यम से आगे के श्लोक के अवतरण देते हैं चार श्लोकों से बताएंगे यहाँ चार श्लोक से उसी की चर्चा होगी यह इत्यादि है यह पुनराधिकृता जो मुमुक्षु है अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है यह पुनराधिकृत है यह अधिकार अधिकारी वही है आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले अधिकारी मुमुक्षु होता है अधिकृता अधिकारी होता हुआ देहात्माभिमानित्व अभी देहात्म शरीर में आत्मबुद्धि है उसकी अभी देहात्म देह में आत्मबुद्धि होने से देहभृत वो देहभृत कहलाता है देहम विवर्तित देहवृत देह को ही भरण पोषण करने वाला इसी के लिए लालन पालन में लगा हुआ होता है उसको देहवृत्त बोलते हैं डुबरिया भरण पोषण धातु है उसे कोई प्रत्यय करके वृत्त बना दिया देहम विवर्तित देहवृत्त देह के भरण पोषण में लगा हुआ जो अज्ञानी है अबाधिता आत्मकर्तृत्व विज्ञान तया अहम कर्ता इति निश्चित माने आत्म आत्मा में जो कर्तृत्व विज्ञान है ना बाधित नहीं हुआ जिसका न बाधित हम्म, अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानम यश्य जिस व्यक्ति को आत्मा में कर्तृत्व जो विज्ञान है उसको बाधित नहीं हुआ नहीं संसार अवस्था में आत्मा को मान रहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व मानता बाधित ज्ञानी का तो बाधित हो जाता कर्तृत्व विज्ञान नहीं रहेगा आत्मा में या आता है आत्मा नहीं मानता कौन विवेकी तो अज्ञानी है आत्मा ही करता है समान बैठा है जो बाधित नहीं हुआ है कर्तृत्ववान आत्मा में जिसका जिसके आत्मा के विषय में बाधित नहीं हुआ कौन कर्तृत्व अभिमान बैठा हुआ है वही व्यक्ति होता है कर्म कर्म करने वाला ऐसा होने से अहम कर्ता इति निश्चित मैं करता हूं ऐसा निश्चय किया हुआ है जिसने तो अहम माने आत्मा को कर्ता माना हुआ है जिसने क्यों आत्मा में जो कर्तृत्वाभिमान बाधित होना था ज्ञानी में बाधित होता है इसमें बाधित नहीं अबाधित है बाधित नहीं हुआ है कर्तृत्व अभिमान जिसका आत्मा जिस व्यक्ति में ऐसा है आत्मा संबंधी कर्तृत्व अभिमान बाधित नहीं हुआ तो ऐसा जो होगा अहम करता इति निश्चित मैं करता हूं ऐसा निश्चय करके बैठा हुआ है आत्मा को कर्ता मान बैठा है निश्चित बुद्धि का निश्चित है बुद्धि जिसकी ऐसा तस्य अशेष कर्म प्रत्याग असत्कत्वाद उस व्यक्ति के जब तक शरीर आदमी आत्मबुद्धि लेकर बैठा हुआ है संपूर्ण कर्म का परित्याग करना संभव नहीं है कुछ न कुछ करता रहेगा उस व्यक्ति का अशेष कर्म परित्याग से अशक्तत्व संपूर्ण कर्म का परित्याग संभव न होने से कर्मफल त्यागे न चोदित कर्म अनुष्ठान एवं अधिकार हो कर्मफल के कर्म के फल के त्याग के माध्यम से जो शास्त्र विहित कर्म को चोदित कर्म कहा हुआ है प्रेरित शास्त्र के द्वारा प्रेरित कर्म है उसके द्वारा कर्म के अनुष्ठान में ही अधिकार है उसका शास्त्र के द्वारा जो प्रेरित कर्म है विहित कर्म है उस, उसके अनुष्ठान में उसके अधिकार है ठीक है शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठा है शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि को बाधित नहीं हुआ जिसका कर्तृत्व अभिमान आत्मा में जो बाधित नहीं हुआ जिस व्यक्ति का उसके लिए कर्म का अधिकार है अभी अभी ज्ञान में पहुंचना उसके लिए दूर है वो कर्म अधिकार है कौन नित्य कर्म अधिकार है न त्यागे कहते उसके त्याग में अधिकार नहीं अभी वो त्याग गया तो कैसे चलेगा आगे अभी आत्मज्ञान होने के लिए बहुत दूर है त्याग अधिकार त्याग का अधिकार नहीं उसको जो आत्मा में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है कर्तृत्व अभिमान जिसका बाधित हो गया है वो तो त्याग में संपूर्ण कर्म त्याग में अधिकार है उसका किंतु जो अभी आत्मा में कर्तृत्व अभिमान बाधित नहीं हुआ जिस व्यक्ति का मैं करता हूं भोगता हूं बना है उसके लिए संपूर्ण कर्म त्याग में अधिकार नहीं है कर्म करने में अधिकार है उसका न त्यागे तत्याग तत्व कर्म कर्म त्याग नहीं है इतम अर्थम दर्शित द्वारा यही विषय को दिखाने के लिए आगे के चार श्लोक के द्वारा दिखाना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं <clears throat> यह पुनर इत्यादि ऐसा हो गया श्लोक है नहीं देहवृत असत्यम त्यक्त कर्माण्य से सतह यस्तु कर्मफल हत्यागी विधीये नहीं देहवृत सक्यम त्यक्त कर्माण्य से सतः यस्तु कर्मफल हत्यागी विधीये देहवृता देहवृता कर्माणि अशेषता कर्माणि त्यक्त न सक्यम ही मानी अस्मात जो देहधारी है देह को भरण पोषण कर रहा है उस अवस्था में है माने देह में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ व्यक्ति है ऐसा उसका उसके द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्यागना संभव नहीं है संपूर्ण कर्म त्यागना संभव है आत्मज्ञान में जब बैठ जाता है तब संपूर्ण का त्याग उसके संभव है कर्मात्र का त्याग वही संभव है अभी देह में अभिमान जब तक है आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है जब तक तब तक संपूर्ण कर्म का त्याग करना संभव नहीं है यदि आत्मा में कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो गया जिसको बाधित हो चुका हो वह कर्म नहीं है अबाधित है अभी अबाधित अवस्था में बैठा है मैं करता हूं भोगता हूं ये पना है तो संपूर्ण कर्म का त्यागना उसको संभव नहीं है किंतु तू माने किंतु यह कर्म फल त्यागी कर्म तो कर रहा है शास्त्र के द्वारा प्रेरित जो कर्म है नित्यादि कर्म नित्य नैमितिक कर्म कर रहा है फल का त्यागी है यस्तु कर्म फल त्यागी तो माने किंतु यह कर्म फल त्यागी जो कर्म का फल का त्याग करने वाला स्वभाव वाला है सत्यागी यदि यदि उसी को शास्त्रकारों ने त्यागी शब्द से कहा गया अभिधीयते कथ्यते ऐसा कथन होता है उसके लिए सही है भाष्य कहते नहीं ही माने यस्मात यस्मात कारण ही अव्यय है उसका अर्थ यस्मात जिससे हेतु है देहवृता देहम विवर्तित देहवृत है देह को वर्ण पोषण करने को देहवृत बोलते हैं तृतीयांत है देहवृता देहदारी के द्वारा देह में वर्ण पोषण लगा देहवृत देहाभिमानी देहाभिमानवान यही है देहवृत का अर्थ देह में अभिमान करके बैठा है जो व्यक्ति मैं मनुष्य हूं अमुक हूं यह स्थिति में जो देहवृत उच्चते जो देह में अभिमान वाला होगा उसको देहवृत कहा जाता है नहीं विवेकी विवेकी देह में अभिमान नहीं करेगा मैं मनुष्य हूं इत्यादि भावना में नहीं विवेकी जो आत्मभाव में पहुंचा पहुंचा हुआ होता है न विवेकी सही सामान्य जो विवेकी का क्या होता है वेदा विनाशन मृत्यम एनम अजम कथम स पुरुषा पाता कम घात सर्वकर्म से रहित हो जाता हो जिसने जाना अपने स्वरूप को जाना वेद अविनाशनम जो अविनाशी आत्मा को जाना जिसने वेदा अविनाशनम नित्यम नित्य है अविनाशी है वेदा अविनाश ये एनम इस आत्मा को पूर्वोक्त जो आत्मा है अजम अव्ययम जो अजम्मा है अविनाशी है जिस आत्मा इसको जाना जिसने कथम से पुरुष पार्थ कम घात है देखते वो पुरुष कैसे मारेगा या कैसे मरवाएगा मैंने हनन क्रिया मारण क्रिया भी नहीं है मरण क्रिया भी नहीं मरता भी नहीं मारता भी नहीं क्रिया मात्र का अभाव है वहां के इसका किंतु देहधारी होगा तो वहां क्रिया है नित्य कर्म करना फलाशक्ति रहित होकर के देहामय ज्ञान हो तो ये कहना है तो विवेकी जो होगा आत्म ज्ञान में पहुंचा हुआ उसके लिए तो सही सामान्य वो व्यक्ति विवेकी वेदा विनाशन इत्यादि ना वो जो द्वितीय अध्याय में आया वो श्लोक था इत्यादि श्लोकों के द्वारा कहा गया आत्मा जो है कर्तृत्व अधिकार निवर्तित आत्मा कैसे कर्तृत्व के अधिकार से पृथक किया हुआ आत्मा होता है और कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता इस आत्मा को या कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में देखता है तो फिर क्रिया शुरू हो जाती है आत्मा में स्थिति है अतः तेरह देहावृता इसलिए उस वेदा विनाश में तो कहा गया आत्मा नहीं देहावृत है यदि देहा को आत्मान बैठा हुआ है अज्ञानी उसके लिए अज्ञान देहावृत जो अज्ञानी उसके द्वारा न सक्यम तक तुम से तुम कहा सारे कर्मों का तो परित्याग उसे हो नहीं सकता कर्माणी अशेषतो निशेषण तस्मान संपूर्ण कर्म अशेषत व निशेष एक भी न बचे कर्म सारे के सारे कर्म त्यागना वहां संभव नहीं है कुछ न कुछ करता रहेगा नहीं कश्चित भी जाति कर्म कर्मकृत कार्य अनुसार कर्म सर्वम प्रकृति तृतीय अध्यय बोल क्या है कोई भी, भी एक क्षण भी ज्यादा तो क्या एक क्षण भी कुछ किए बिना रह नहीं सकता या तो हाथ हिलाता होगा पैर हिलाता होगा मुख चलाता होगा कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है या चक्षु देख रहा होगा कोई ना कोई कर्म कर रहा होगा या सुन रहा होगा कई कारण या मानसिक कर्म कर रहा सोच रहा होगा देहाभिमानी होगा कुछ कर्म किए बिना एक क्षण भी रह सकता ये स्थिति है इसलिए कर्म करे शास्त्र विहित कर्म करे और फल की आशा से रहित फलाभिलाषा छोड़कर करे इस अवस्था की बात है अधिकृत जो अधिकारी अज्ञानी है अधिकारी है मैंने मुमुक्षु अगर मुमुक्षु में है वो क्या करे नित्यानि कर्माणी कुरबन नित्य कर्म निवृत्ति कर्म को करता हुआ कर्म फल त्यागी कर्म के फल के त्याग देता है अहम करता अहम भोक्ता बुद्धि को त्याग करके कर्म कर रहा है शास्त्र के द्वारा आज शास्त्र का आदेश है कर्तव्य है मानकर जैसे सेना लड़ती है राजा का आदेश है तो शास्त्र यही बोलता है नित्य कर्म तो कर, करो काम में कर्म मत करो ऐसा बोलता है इसी प्रकार नित्यानि कर्म करो कर्म फल त्यागी कर्म फल अभिसंधि मात्र सन्यासी कर्म फल त्याग करते ये कर्म फल कर्म के फल में अभिसंधि माने जो आसक्ति है ना उसके सन्यासी है त्यागी है वो स त्यागी थे उसी को त्यागी कहा जाता है सत्यागी अभिधेय थे कहा माने कर्मी अभी सन है तो कर्मी है अभी कर्म कर रहा है वो कर्मी अभी कर्मी होता हुआ भी त्याग कर दिया फल त्याग के कारण उसकी प्रशंसा के लिए बात आया फल त्याग कर देता है त्याग तो है ना कौन सा त्याग फल त्याग है इसलिए कहा कर्मी अभी है तो कर्मी अभी आत्मभाव हम्म, में पहुंचा नहीं है अभी कर्म करता हुआ है कर्मी अभी सन कर्मी होता हुआ अभी थी स्तुति अभिप्राय उसे प्रशंसा के लिए कहा यह वाक्य क्या है अर्थवाद है सत्यागित तस्माद इसलिए परमार्थ दर्शिना जो परमार्थ देखने वाले जो व्यक्ति हैं जिनको परमार्थ दिखता हो तो एव देह वृता जो परमार्थ दर्शी उद्देश्य उनका परमार्थ है इस लोक आदि नहीं है ऐसा उद्देश्य वाली देहकारी है अभी मानी मुमुक्षु जन है उनके द्वारा देहात्म भाव रहित न अशेष कर्म संन्यास शक्य थे पर तुम कहा कौन कर सकता है सारे कर्म को तो परमार्थ दृश्य हो परमार्थ ही जिसको देखा जाता है और देह वृत्ता जो देह वृत्त नहीं है देह से पृथक होकर बैठे हुए जो अपने को अलग करके बैठे हैं शरीर से अपने को पृथक किया हुआ जिन्होंने अधेह अहदेह वृत है वो देहाधारी नहीं है देहात्मा रहते अधेह वृता का यही है देहात्माव से रहित जो होंगे अशेष कर्म संन्यास से सत्यते कर दो उनके द्वारा किया जा सकता है संपूर्ण कर्म का त्याग हाँ, देह वृत्त के द्वारा नहीं किया जाता इसलिए शास्त्र विहित कर्म नित्य निमित्त कर्म करे फल त्याग के माध्यम से ये कहा गया कहा है टीका भगवान नवाजितम आत्मनि कर्तृत्व विज्ञान वश्य ही है अबाजित कर्तृत्व अबाजित कर्तृत्व विज्ञान तया इत्यादि का उसका अर्थ है बाधित नहीं हुआ है देहात्म बुद्धि जिसकी बाधित नहीं हुई अभी आत्मा में कर्तृत्व भाव जिसका बाधित नहीं हुआ है अभी उसके द्वारा कर्म करना चाहिए शास्त्रविद का प्रवृत्त नृत्य कहा न बाधितम आत्मनि कर्तृत्व विज्ञान वर्ष इस अज्ञानी का क्या स्थिति है बाधित नहीं हुआ है कर्तृत्व अभिमान आत्मा में बाधित होता तो ज्ञानी होता अभिमान है तथा उसे कहा अज्ञान अज्ञ को कहा है तथा भाव तत्ता कहा आत्मभात है विज्ञान विज्ञान तो है ना भाव में आगे तल प्रत्यय लगा के तृतीयांत है वो ठीक कहा एतम अर्थम दर्शे तुम अज्ञस्य सर्वकर्म संन्यास असंभव हेतु महा इसी विषय को देखना इसलिए आत्मा आत्मा में कर्तृत्व विज्ञान का बाधित नहीं हुआ है आत्मा को कर्ता समझता है जो व्यक्ति उसके द्वारा क्या करना चाहिए ये कहना अर्थम तरह इसी विषय को दिखाने के लिए अज्ञा से जो अज्ञानी है उसको क्या करना होगा सर्वकर्म संन्यास असंभव सारे कर्म त्याग में संभव नहीं उसको हेतु बताते हैं हेतु क्या ही होगा एक नित्य कर्म करे फल त्याग के द्वारा ये कहा यस्मात इतने से तस्मात इत उत्तर से भाष्य में जो यस्मात आया उसका आगे तस्मात पद है उसके साथ संबंध कर देना बोला हुआ है ये का अर्थ दिया था आगे तस्मात ठीक है हमें कहते हैं विवेकिनों भी देहाधारित महाराज ज्ञानी भी तो धारी है अभी काम अभी तो शरीर है आयुषण नहीं हुई है उसकी जीवन मुक्ति अवस्था में भले है वो तो शरीर धारी तो है शरीर से बाहर कहा है वो ये ज्ञानी है बोलते हैं लोग शरीर शरीर को लेकर बोलते हैं ये कहते हैं विवेकिनो भी देहरा जो आत्मा नात्मा विवेक को जो कहा है वो उसको वो भी तो देहदारी है देहदारी तो यार देहवृत्त अविशेष है देहवृत्त वो भी अविशेष है दोनों अज्ञानी भी देहदारी है ये भी देहदारी है एक को देहवृत्त तो ये भी देहवृत्त होगा देह के भरण पोषण करने वाला होगा तो इसलिए क्या कर्माधिकार से कर्म का अधिकार इसको भी होगा फिर ज्ञानी को भी होगा देह तो है ना उसका देहधारी तो समान है और एक देहधारी होने के कारण कर्म करना है तो ये भी देहधारी है तो कर्माधिकार है इसको भी ये शंका आगे तो कहा नहीं कहा हुआ है भाष्य से कहा नहीं इत्यादि शब्द से कहा था नहीं विवेकी विवेकी कर्माधिकारी नहीं है सही सामान्य विवेकी कैसा होता है वेदा विनाश निमित्त में ये श्लोक में जो कहा हुआ आत्मा पे बैठा हुआ होता है शरीर भाव से अपने को अलग करके रखा हुआ है और कोई क्रिया होनी संभव नहीं है कर्तृत्वाधिकार तत्पूर्वक कर्मानुष्ठान तस्वाद का कर्तृत्वाधिकार वहां नहीं है कर्मानुष्ठान हम्म। कर्तृत्वाधिकार पूर्वक कर्मानुष्ठान माना संभव नहीं है उस ज्ञानी में क्यों उसको तो वेदा विनाश आत्मा को जिसने जाना ऐसा जाना वेदा जानता है जो व्यक्ति इसको अविनाशी रूप से जानता हो नित्य जानता हो अजम अव्ययम अजन्मा है विनाश नहीं होता ऐसा समझता है कहा क्रिया हो पाएगी वहां कथम स पुरुषा पार्थ कम घातम तो अंत किसको मारेगा अथवा किस किससे मरवाएगा किसको मरवाएगा संभव नहीं क्रिया होनी संभव नहीं होगा जब शरीर विशिष्ट होता है तब तो क्रिया होती है केवल आत्मभाव में क्रिया होनी संभव नहीं ये कहा हुआ है अच्छा आगे कहते हैं कर्तृत्वाधिकार तत्पूर्वकम कर्मानुष्ठान जब आत्मा में कर्तृत्वाधिकार है ना कैसा कर्तृत्व मानता है वो तत्पूर्वक अनुष्ठान होगा कर्तृत्वाधिकार पूर्वक अनुष्ठान उस कर्म का अनुष्ठान करेगा हेतु कृत ऐसी हेतु तो बना करके क्या कर्मानुष्ठान तस्मात यावत इसे कहा ज्ञानवतो देहधारणे भी तदेपाम अभिमानत्व अभाव अथ शब्दार्थ भाष्य माता आया हुआ है ज्ञानी जो होगा ना देहधारी होने पर भी तद अभिमान मतलब अभी शरीर तो नहीं शरीर पात नहीं हुआ है जीवन मुक्ति अवस्था में फिर भी उसमें अभिमान नहीं इसका अज्ञानी का अभिमान है ज्ञानी का अभिमान नहीं है तद अभिमान तो अभाव अत शब्दार्थवास्य में अत आया न देह वृद्धा अज्ञान इत्यादि इसलिए जो देहधारी है ना अज्ञानी है उसी के लिए कर्म सारा कर्म त्यागना संभव नहीं है कहा नहीं देह वृद्धा सक्यम तेतु कर्मा से अज्ञ से सर्वकर्म त्याग अयोगम होता अज्ञानी को संपूर्ण कर्म का त्याग होना संभव नहीं है उत्तम हेतु कृत इसी को हेतु बना करके फलितवाद तस्मात इत्यादि कहा तस्मात अज्ञो यश तो अज्ञो अधिकृत जो अज्ञानी होगा अधिकारी होगा कर्म के अधिकारी होगा नित्यानि कर्माणी पूर्व नित्य कर्म का करता हुआ ही कर्म फल त्यागी कर्म के फल का त्याग कर रहा है कर्म कर रहा है त्याग कर फल त्याग कर्म फल संन्यास कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी कर्म फल के आसक्ति का मात्र का त्याग है कर्म तो कर रहा है वो सन्यासी है वो त्यागी त्याग और सन्यासी की बात है सत्यागी अभिधेय उसको त्यागी कहा जाता है कहा यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी तो विधि थे कहा तो, तुति क्या उसकी प्रशंसा हम्म। अज्ञान अवस्था में होती है भी फल को त्याग करके नित्य नैवित कर्म कर रहा है जिसके आगे उन्नति होगी उसकी अंतकरण की शुद्धि के माध्यम से इसके लिए उसकी प्रशंसा ने कहा कर्मानुष्ठाई न त्यागी न त्यागित्व तो अयुक्तिर त्यागित्व तो उक्तिर अयुक्ता पूर्वादि बोल रहा है कर्म का अनुष्ठान कर रहा है फिर त्यागी का बनाने कहा त्याग हुआ कर्म कर्म कर रहा हो कर्मानुष्ठाई ना जो कर्म का अनुष्ठान वाला व्यक्ति है त्यागित्व तो उक्ति है त्यागित्व तो कथन ठीक नहीं है कैसे त्यागी हो कर्म कर रहा है ये शंका कर रहा कर्मी अपिशान कर्मी होता हुआ भी ये कहा था तो त्याग यद्यपि कर्मी है कर्म कर रहा है फिर फल को त्यागने के कारण उसी प्रशंसा के लिए बात है अच्छे लाइन में जा रहा है संस्कारी हो रहा है ये बोलने के लिए कर्मणों भी फल त्यागे ना त्यागी तो वचन फल त्याग अर्थ कर्म को भी जो फल त्याग के माध्यम से त्यागित्व तो कहा यहां क्या कहा त्यागी कहा कर्म के फल के त्याग के कारण फलाशार को त्यागने से कर, त्यागी कहा गया है फल त्याग तो, तो फल त्याग के कारण तुति है उसकी प्रशंसा के लिए फल त्याग में ऐसी प्रशंसा है ये कहा कश्य तेरी सर्वकर्म त्याग जब मुमुक्षु को नित्य निमित्त कर्म करना है अज्ञानी को फिर कौन होगा सभी कर्म का त्यागी कौन बनेगा सारा संपूर्ण कर्म का त्याग कि अधिकार किसमें होगा ये प्रश्न है कश्य तरी सर्वकुवर त्याग संभवती फिर सारे कर्म का त्याग कहां संभव है अज्ञानी में नहीं है तो फिर कहां है प्रश्न उठा आशंक का विवेक वैराग्य आदि जो विवेक वैराग्य आदि साधन है जिसके पास विवेक है तो विवेक है और संसार से वैराग्य है यहां पुत्र फलभोग विराग है इस लोग परलोक संबंधी दोनों लोग संबंधी फलों के द्वारा विरक्त है जो नहीं चाहिए मुझे ऐसी स्थिति में है तो देहाभिमान है ना देहाभिमान से रहित है उसी के सर्वकर्म त्याग में अधिकार है विवेक वैराग्य समाधि संपत्ति मुमुक्षा जिसमें हो साधन चतुष्ट जिसके पास हो और देहाभिमान से भी रहित हो उसी को सर्वकर्म त्याग में अधिकार है नहीं तो नहीं कर्म करना ही होगा जब कर्म करना है तो जहर वाला कर्म दोष युक्त कर्म न करे काम्य कर्म न करे निषिद्ध कर्म न करे शास्त्र के द्वारा निषिद्ध किया न करे किंतु देह में अभिमान है तो सारा कर्म त्यागना संभव नहीं है तो क्या करे नित्य नैमित्त कर्म करे उसी फल त्याग के माध्यम से नित्य नैमित्त कर्म के फल भी है स्वर्गादि फल हो जाते हैं हम्म, सकाम अग्निहोत्र निष्काम अग्निहोत्र दो प्रकार के अग्निहोत्र की चर्चा है तो फल त्याग के माध्यम का कर्म करे इसी के लिए उसकी प्रशंसा कहा गया ये कहा था समय हो गया है नहीं रखते पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमद पूर्णश पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्य ओम शांति